सबसे बड़ी बात जो म्यूजिक में होती है वो सुर होता है सुर नहीं तो कुछ भी नहीं हम कहते हैं बेसुरा है बेसुरी है तो वहाँ म्यूजिक की वैल्यू ख़त्म हो जाती है चाहे वो क्लासिकल हो चाहे फिल्मी हो चाहे गज़ल हो या भजन हो तो वो सुरीली इतनी है कि उनकी टक्कर का सुरीला अभी तक तो मैंने सुना नहीं मुझे सज्जा साहब का गाना गाते वक्त हमेशा एक थोड़ा सा डर लगता था क्योंकि वो दो तीन बातों में बहुत पर्टिकुलर थे एक तो हमारे यहाँ होता है ना कि कोई आलाप करना है तो बड़ा जोर दे के आलाप वो उनको अच्छा नहीं लगता था और हर चीज़ सुर में होनी चाहिए तो उनका गाना गाते वक्त मुझे थोड़ा सा ये लगता था कि भाई मालूम नहीं इनको पसंद आएगा या नहीं या मैं ठीक नहीं गा रही हूँ पर ये भी अंदर से होता था कि इनका गाना गाना ही चाहिए और अच्छा होना चाहिए